ए लोगों तुम्हारे पास तुम्हारे परवरदिगार की तरफ से खुली दलील आ चुकी है और हमने तुम्हारे पास एक ऐसी रोशनी भेज दी है जो रास्ते की पूरी वजाहत करने वाली है